ये तो यही बात हो गई ना कि बिना कांटे के मछली पकड़ के लाओ भाई हम यहाँ क्या हाथ से मछली पकड़ने आए हैं हम्म, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात लेकिन अब क्या कर सकते हैं हमें ऐसे ही करना पड़ेगा फिर कुछ पल शांत रहने के बाद नैना ने फिर से कहा विक्रांत मुझे लगता है कि मंजू मैडम का मर्डर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत बड़े केस पर काम कर रही थी उनका मर्डर इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा राज जान लिया था हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा पता लगा लिया था जो कई लोगों को तबाह कर सकता था उनकी इन्वेस्टिगेशन कई लोगों के चेहरे से नकाब हटा सकती थी शायद इसीलिए उन्हें मार दिया गया हम्म, विक्रांत ने हंसते हुए कहा मुझे लगा कि तुम ये कहने जा रही हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है इस वक्त नैना ने विक्रांत की तरफ थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा रोड पर जल रही स्ट्रीट लाइट नैना के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका खूबसूरत चेहरा अलग ही चमक बिखेर रहा था विक्रांत नैना की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था उसने नैना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा ऐसा लग रहा है कि हम किसी फिल्म की कहानी में चल रहे हैं तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है यानी अगर हम मुजरिम को पकड़ भी लेते हैं तो भी हमें पूरी कहानी नहीं पता चलेगी और और हो सकता है कि हम तब भी खतरे में ही रहेंगे हम्म, नैना ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया है और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें खतरे में डाल रही हूँ तो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो मैं तुम्हें इस केस पर काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रही हम्म विक्रांत फिर से हंस पड़ा <laughs> अरे कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए इतना खतरा तो उठा ही सकता हूँ यानी तुमने मेरे साथ रात बिताने विक्रांत कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि इससे नैना का गुस्सा बढ़ सकता है इसलिए उसने अपनी बात बदल दी मेरा मतलब तुम तुम मेरे साथ डेट घूमने चलोगी इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ अच्छा नैना जब घूमने चलोगी तो तो मुझे एक दो इसको मिल ही सकता है ना अभी विक्रांत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि एक जोर का घूसा उसके मुंह पर आकर पड़ गया फिर से उसका सिर गाड़ी के साइड विंडो में जा भिड़ा ओ मतलब ये नहीं हो सकता विक्रांत ने मन ही मन सोचा फिर जब विक्रांत घर पहुंचा तो वो शीशे के सामने खड़े होकर नैना के बारे में सोच रहा था ये नैना खाती क्या है इतना तेज घूसा कौन मारता है अभी भी विक्रांत को चेहरे पर दर्द का एहसास हो रहा था उसका पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था फिर विक्रांत मनी मन सोचने लगा आखिर ऐसा क्यों होता है मैं नैना के सामने बड़ी शराफत से पेश आना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल जाती हैं जिससे उसको गुस्सा आ जाता है हे भगवान मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे नैना से मैं हर बार सिर्फ मार ही खाता रहूंगा कभी उसका करीब नहीं जा पाऊंगा वैसे भले ही विक्रांत ने नैना से थप्पड़ खाया था लेकिन उसे एक फायदा भी हुआ था आज उसका सक्सेस रेट इक्यानवे प्रतिशत का रहा है और अदृश्य शक्ति द्वारा उसे एक अदृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया इस जैकेट को पहनकर विक्रांत कितनी भी पावरफुल गोली क्यों न हो सबसे बच के रह सकता है और इस अदृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट की खास बात यह है कि ये विक्रांत की पूरी बॉडी को कवर कर सकती है यानी कि इसे पहनने के बाद विक्रांत का सिर से लेकर पैर तक सब कुछ सेफ रहेगा और एक बार जैकेट पहनने के बाद ये अगले एक घंटे तक अपना काम करता रहेगा और फिर इस दौरान चाहे विक्रांत पर मशीन गन ही क्यों न चला दी जाए वो बिल्कुल सेफ रहेगा विक्रांत इस गिफ्ट के मिलने से बेहद खुश था इसके साथ ही उसके पास आज दो और गुड न्यूज थी पहली तो ये कि उसे नैना ने बताया था कि रमेश सावरकर और मीना अग्रवाल मर्डर केस के लिए अनीता को जो जेल हुई थी अब उसकी बेल हो चुकी है अनीता के पति ने अपनी शॉप बेच डाली थी और शहर के सबसे महंगे वकील को अनीता का केस लड़ने के लिए लेकर आया था उसने केस जीत भी लिया और अब अनीता हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही है विक्रांत भी अनीता के लिए यही चाहता था दूसरी अच्छी खबर ये थी कि आज ही विक्रांत को उसके मकान मालिक की बेटी रिया ने बताया कि वो जो पुलिस के लिए हैकिंग का काम कर रही थी उसके लिए उसे पैसे मिलने शुरू हो गए वो वहां से पैसे कमाकर अपनी माँ के इलाज में लगाती है विक्रांत ने फिर भी उसे सलाह दी थी कि इन कामों में अपना ज्यादा वक्त ना खराब करे बल्कि पढ़ाई में ज्यादा मन लगाए क्योंकि जल्द ही उसके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं रिया बहुत ही समझदार बच्ची थी वो बस अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए ही पैसे कमाना चाहती थी इसलिए विक्रांत को उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी रिया खुद ही इतनी समझदार है कि वो ज्यादा दिनों तक ये इलीगल हैकिंग का काम नहीं करेगी इसके बाद विक्रांत को एक और अच्छी खबर सुनने को मिली उसे मोनिका ने फोन करके बताया कि उसके पिता ने महेश का ऑपरेशन करने के लिए किसी को ढूंढ लिया अब बहुत जल्द ही विक्रांत के कुत्ते की टांग का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा विक्रांत इस खबर से बहुत खुश हुआ उसने मोनिका से कह दिया कि चाहे जितना पैसा लगे चाहे जो हो जाए इसका इलाज अच्छे से करवाओ पिछले कुछ दिनों से एक बात तो ये अच्छी हो रही थी कि विक्रांत को सोने का खूब वक्त मिल रहा था और विक्रांत को नींद भी अच्छे से आ रही थी बिस्तर की ओर पड़ते ही उसकी आंख बंद हो जाती और फिर वो आराम से अपनी नींद पूरी कर पा रहा था उस दिन रात को भी विक्रांत खूब अच्छे से सोया इसके बाद अगले दिन सुबह जब विक्रांत की नींद खुली तो उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ और पानी शब्द दिया गया विक्रांत को बहुत दिनों से इस पहाड़ कोडवर्ड का इंतजार था अब वो अच्छे से काम कर सकता है अगले दिन सुबह उठकर विक्रांत सीधे ही ऑफिस गया और तुरंत ही किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम शुरू कर दिया ऑफिस में उसे टीम लीडर चेतन राय किसी दूसरे टास्क पर लगाना चाहते थे लेकिन विक्रांत ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया वो सीधे ही गजेंद्र ठाकुर के बारे में पता लगाने के लिए निकल गया वो उन लोगों की पड़ताल करने जा रहा था जिनका संबंध गजेंद्र के साथ उसके मरने से पहले था रिकॉर्ड के हिसाब से गजेंद्र ठाकुर करजत के पास ही स्थित पोसारी इलाके का रहने वाला था अस्सी के दशक में वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग मटेरियल की शॉप हुआ करती थी यहाँ तक के करजत इलाके तक वो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई किया करता था नब्बे के दशक के दौरान उसे किसी ने बताया कि माइंस में इन्वेस्टमेंट करने पर काफी फायदा हो सकता है इसलिए उसने अंधाधुंध पैसा माइंस को खरीदने में लगाना शुरू कर दिया उसी वक्त उसने करजत की इस अम्बार्डेड सिल्वर माइंस को भी सरकार से खरीदा था उसने इस माइंस की खुदाई भी करवाई थी और इससे उसको काफी फायदा हुआ था उसने इस माइंस से बहुत पैसे कमाए थे गजेंद्र ठाकुर काफी आयाश आदमी था उसे जुआ खेलने के साथ ही लड़कियों का भी काफी चस्का था बताया जाता है कि उसका कई औरतों के साथ चक्कर था और उसने तो शायद एक से ज्यादा शादियां भी कर रखी थी गजेंद्र के पास पैसा और पावर दोनों था दिन ब दिन वो अपना बिजनेस बढ़ाता जा रहा था यहाँ तक कि उसने मुंबई आकर फिशिंग के बिजनेस में भी अपना हाथ डालने लगा था उसने एक दो बोट भी खरीदी थी और समुद्र से मछलियां पकड़कर उनकी सप्लाई भी करने लगा था लेकिन उसका ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चला उसकी बुरी आदतें ही उसके जी का जंजाल बन गई थी जुए की वजह से गजेंद्र के दोस्त तो खूब बने थे लेकिन कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए थे भले ही गजेंद्र बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था लेकिन उसे मार्केटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था इसलिए उसका बिजनेस ज्यादा दिनों तक मार्केट में टिक नहीं सका ऊपर से उसके कुछ दुश्मनों ने भी अपना बदला पूरा करने के लिए गजेंद्र का व्यापार डुबाने की कोशिश की थी नब्बे का दशक आते आते उसका सारा व्यापार खत्म हो गया उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया फिर भी उसकी जुए की लत नहीं छूट रही थी धीरे धीरे उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई और फिर जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे उन सब ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए कुछ लेनदारों ने तो उसे धमकाना भी शुरू कर दिया था और फिर गजेंद्र को ब्रेन हेमरेज हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था अस्पताल में भर्ती होने के दो चार दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी और फिर गजेंद्र के मरने के दो तीन महीने बाद ही उसकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था लगातार कर्जे वाले उसे घर आकर धमकियां देकर जाते थे इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी गजेंद्र के दो बच्चे भी थे उसकी बड़ी बेटी का कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था लेकिन फिर भी वो किसी तरह बच गई थी वहीं गजेंद्र का बेटा इस वक्त किसी कारण से जेल में बंद पड़ा है योगेंद्र ने गजेंद्र ठाकुर के बारे में जो कुछ भी बताया था सब सही ही था उसने बताया था कि गजेंद्र पहले बहुत अमीर हुआ करता था लेकिन बाद में अचानक से उसका सारा बिजनेस ठप पड़ गया और वो तबाह हो गया था शुरू में विक्रांत ने गजेंद्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था लेकिन अब उसने गजेंद्र को किडनैपिंग केस का मेन सस्पेक्ट मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था